अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कह पर से में भृगुनाथ हमारी घर तंतो छाया में है अब पर से के यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है यह अनुरागी है नोछावर विप्रचरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है हम झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं यह दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है यह कृपा ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है भ्रगपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात क्षण भर में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट ब्राह्मण सरल सदैव है होता है यह पुष्ट यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है देखो उस ओर तनिक देखो वह अब भी तो मुस्काता है उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा अब बस इसे मार ही डालूंगा हे राम यही सोचा है अब है यह क्या है क्या हुआ मुझे क्यों पावन आगे बढ़ता है पर सा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है लक्ष्मण ने तक्षण कहा देव हुआ अनुकूल मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल देखना संभलना इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भिगुनाथ तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा तू मीठे मीठे बातों से चोटों को मेरी से कर रहा वह तो है गर्म नरमय है क्या कुटिल नीत है दोनों की क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की वाक युद्ध अब हो चुका बाण युद्ध हो राम रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलराम मैं परशुराम कहलाता हूँ तू तो भी राम कहता है मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही धाक जमाता है दो राम रहेंगे नहीं राम इस कारण कर संग्राम अभी अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी लखन बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा बोध राम नाम तक से तुम्हें है इसका कदर विरोध अब तो अपने इस पर से को भाषा पर ही चलाइएगा मुनराज वर्णमाला से यह अक्षर निकलवाइएगा बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है जो नाम एक ब्राह्मण का है छत्री का वही नाम क्यों है और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है मस्तक पर तो है परशु नाम यह राम नाम चरणों पर है राम आप है परशुराम अब कहिए किसका नाम बड़ा वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा विघ्नात विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं इतने हट इतने झुंझलाहट इतने भी क्रोध नहीं अच्छा मिलने में है आनंद सदा प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा बिगड़ जाए जो हम कहें तो अनर्थ हो नाथ सूर्यवंश में जन्म है धनुष बाण है साथ अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हम रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है तो उससे भी लड़ना पड़ता है इसलिए न परसा दिखलाए उससे हम कभी न डरते हैं हाँ एक शत्रु है दुजवर पर जिसका हम आदर करते हैं वह शत्रु लोहे का ही है फिर न वह हाथ में रहता है तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है गजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत उससे ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जी बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है विप्रो के हम है कृपा पात्र यह ध्यान रहे ठौर प्रभो उसके बेछाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभो गूढ़ वचन सुन राम के चौक उठे भृगुनाथ पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप उसी समय गदगद हुआ हुआ पूर्ण आनंद विह्वल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद रघुकुल में सूर्य समान हो तुम राम तुम्हारी जय होवे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवी असुरों के लिए किसान हो तुम असुरों के लिए कृषान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवी गौद जन्म ही सुर संतों के हित नर्तन में प्रभुते त्रिभुवन पति नर हो कर भी निर्वाण हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे हे राम तुम्हारी जय होवे जो शंकर के सबसे सुख है जो शंकर के सबसे सुख है वे आज समारे सन्मुख है हम भक्त और भगवान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो बिन जाने वाद विवाद हुआ बिन जाने वाद विवाद हुआ क्षमेगा जो अपराध हुआ करुणा निधि कृपा निधान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो शक्ति सदा जय हो हे सीता शक्ति सदा जय हो हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो महा महान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे सर्वोपरि महान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो वर राधे श्याम भक्ति का दो आशीष प्रसाद भक्ति का दो हम भिक्षुक हैं धनवान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हुई असुरों के लिए कृषाण हो तुम असुरों के लिए कृषाण हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हुई कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा ये समय साजी है दाए रघुबीर सुशोभित है बाए की विराजी है सीता की ओर जनक जी हैं श्री राम और सौमित्र खड़े दंपति के सिर पर हाथ धरे पीछे हैं विश्वामित्र खड़े यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा वह रंग भूमि वाला बाजा अब धनी विवाह की बाज उठा घड़ी आज की प्यारी प्यारी सदा शुभ विजय माला राघो ने धरी सदा शुभ बसंत आया मिथिला के उद्यान में है उठे खिल खिला क्यारी क्यारी सदा शुभ